पूछा जो उससे मैंने वो है शहर कौन सा जिसको न इनकलाब ज़माना मिटा सका मिट मिट के और भी जो भरता चला गया तारीख रोज़गार ने हंस कर दिया जवाब दिल्ली जो एक शहर है आलम में इंतखब खातिन हजरात दिल्ली सात बार उजड़ी और आठ बार बसी और इस बार जो दिल्ली बस रही है वो सातों बार की एक साथ बस रही है जहाँ जंगल था वहाँ ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहाँ और बड़ी बड़ी इमारतें हैं खैर ये तो थी ख़वान हजरात ये मेला सार्क का यूँ तो 24 तारीख को त्रिवेंद्रम में ख़त्म हुआ जहाँ हमारे नायब सदर जमहूरिया के आर नारायणन मेहमान खसूसी थे लेकिन इस मेले का अख्ताम महफिलों के हिसाब से आज हो रहा है मैं आई सी सी आर की तरफ से गज़ल की शाम आपका इस्तबाल करता हूँ जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस मेले का तस्वुर पहले राजीव गांधी ने किया था स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि हम सातों मुल्क जोग्राफियाई एतबार से पड़ोसी हैं हमारे मौसम भी एक हैं हमारा तर्ज ज़िंदगी भी तकरीबन एक सा है और हमारे लिए जो चुनौतियां हैं वो भी एक हैं और हम एक दूसरे से सहयोग करते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हैं ये कहा था हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने हमारा तहजीबी वरसा सदियों पुराना है जो हमें एक सूत्र में एक धागे में बांधता है इसलिए कहा है कि अगर हमारे रंग और हमारे नाम एक से नहीं तो क्या अगर हमारी सरजमीन बांट दी गई तो क्या अगर हमारे सर पे आसमां के साहिबा की धज्जियां उड़ी तो क्या सुनो हम एक हैं हमारी इब्तदा भी और हमारी इंतहा भी एक हम एक कारवा के हम कदम हमारा रास्ता भी एक हमारी मामताएं एक सी हमारे बचपने भी एक हमारी चाहते भी मुख्तलिफ नहीं हमारे रंज एक से हमारी राहतें भी मुख्तलिफ नहीं हमारे ख्वाब एक हैं सुनो हम एक हैं और यही इस सार का सिलसिला था जिसमें आप और सब मौजूद हैं यहाँ पर आज की शाम असल में इंडो पाक दोस्ती की शाम है उस विरसे की शाम है जिसका हम दोनों मुल्क जिसकी हिफाजत कर रहे हैं आज के पुराशोक दौर में संगीत ही एक ऐसा हौसला है जो जिंदगी के जख्मी जिस्म पर तमानियत का मरहम रखता है फिक्र नज़र के मुरछाए हुए पौधों की आबियारी करता है और एक ऐसी नई दुनिया की निशानदही करता है जहाँ तारीकियों के लिए रोशनी तश्नगी के लिए जुए आब वामानगी के लिए छतनार पेड़ों की शफीक छाऊं और जोहरा गिरदास मायूसियों के लिए उम्मीद का एक जहान ताज़ा मौजूद है और यही मौसीकी का पैगाम है संगीत का पैगाम है खातिन हजरात हिंदुस्तान और पाकिस्तानी तहजीबों की जड़ें मोहनजोडारो गंधारा टैक्सला मथुरा बनारस अजंता अजमेर कुतब मीनार ताजमहल और शालामार हर जगह फैली हुई है इंसानियत नवाज रिवायात हजारों बरस से दोनों मुल्कों की सरजमीन खासा रही हैं और आज भी हैं आज की ये महफिल उसी तहजीब सबर का एक तसलसल है और जैसा कि अल्लाह इकबाल ने कहा था अता मोमिन को फिर दरगाह हक से होने वाला है शको है तुर्कमानी जहन हिंदी नुत एराबी तुर्कों की बहादरी जिन्होंने अंग्रेज़ों को शकस दी अरबी ज़बान का आहंग जो कुरान की शक्ल में मोजे की मोजे की शक्ल प्यार कर लेता है और जहन हिंदी जो सदियों हिंदू मुस्लिम रवायत का परवरदा है हीर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी एक ही तरह गाई जाती है गज़ल जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल सिंफ है उसकी बैरें फारसी हैं ज़बान उर्दू है और मौसीकी हिंदुस्तानी है और हमारी आज की मलिक गज़ल हैं इकबाल बानो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ उनसे कि तशीफ लाएँ खातिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें पुरानी कभी नहीं होती ऐसे ही एक शेर जो मैं पढ़ा करता हूँ एक बार फिर पढ़ूंगा इकबाल बानो साहिबा के लिए ख़ास तौर पर और तमाम ख़वान हजरात के लिए कि मुल्क तकसीम हुए दिल तो सलामत हैं अभी मुल्क तकसीम हुए दिल तो सलामत हैं अभी खिड़कियाँ हमने खुली रखी हैं दीवारों में खुदा करे इन खिड़कियों के ज़रिए से आप और तमाम हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार अदीब व शायर आते जाते रहे ताकि मोहब्बतों का ये समंदर और बड़ा और गहरा खातिन हजरात कभी कभी ऐसा होता है कि हवा का कोई तार और दिलों में फूल खिल उठते हैं मौसीकी और नगमा भी मोहब्बत की महकी हुई हवा का झोंका है लफ्ज़ नगमा ऐसी जादूगरी है जो अपने असर को यादों और जज्बों में सदियों के लिए छुपा लेता है यादें और जज्बे कौमों के हों या हमाशुमा के नगमे की दौलत अमिट है इकबाल बानो इसी देश से परदेश गई हैं नगमे के लिए हजरात देश क्या और परदेश क्या आवाज़ की सरहदें कहाँ हैं हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान गुलूकमा गुलूकारी हमारा शानदार विरसा है आज उसी विरसे को उसी आवाज़ को अपनी महफिल में देखकर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे खोई हुई दौलत हमें फिर से मिल गई हो इकबाल बानो की आवाज़ का जादू पहले पहले इसी सरजमीन पर जागा था और आज वो आवाज़ हमारी महफिल में चमकेगी हमारी मेहमान मुगनिया ने बड़े उस्तादों से शास्त्रीय संगीत के गुण सीखे और उनको अपने फ़न में तरह तरह से भरता है गायन का मशरकी सलीका और आवाज़ का उतार चढ़ाव और ठहराव सब आप इनके नगमे में पाएंगे इकबाल बानो को मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया है जिसमें कराची प्रेस का मलिक गज़ल एवार्ड और पाकिस्तानी हुकूमत का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शामिल है ये पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान अमरीका लंदन और दूसरे मुल्कों में भी अपनी आवाज़ का आवाज़ का जादू जगा चुकी हैं खातिन हजरात वक्त आ गया है कि अब इस महफिल को इकबाल बानो की आवाज़ से गरमाया जाए कुछ लफ्ज़ महके कुछ आवाज़ सुर गूंजे और हम थोड़ी देर को सब कुछ भूल जाएं और खो जाएं इकबाल बानो की लयकारी में सूरत बात यह भी है कि आज की शाम की इब्तदा इकबाल बानो ठुमरी से कर रही हैं खूबसूरत ठुमरी है आप सुनिए Jesus. इसके बाद असल में आपने फरमाया था कि मैं ठुमरी से शुरू करूँगी तो बहुत सी खातिन हजरात गज़लें शामिल हैं लेकिन अभी इब्तदा की है लेकिन मेरे पास फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया है तो इकबाल जी फरमाइशें भी याद रखिएगा गज़ल है कि हज़ार जाम तसदुक हज़ार मैखाने आपके लिए है तो कह रहे थे चलिए हज़ार जाम तसदुक हज़ार मैखाने तेरी निगाह की मस्ती शराब क्या जाने बाजार में निगाह है यार सलामत हजार

तसदुक हजार में खाने तेरी निगाह की मस्ती शराब क्या मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ ला के कुछ फरमा रहे हैं या मैं शुरू कर दूँ खातिन हजरात ये काबिल अजमेरी की गज़ल पेश कर रही हूँ तुम नमा मगर हकीकत तुम न मानो मगर हकीकत है इश्क इंसान की जरूरत है हकीकत तो दिल तो दिल सिर्फ एहसास की जरूरत है सिर्फ इकबाल बानो साहब आपने कहा कि मैं कहाँ हूँ मैं यहीं हूँ मैं तो ये कहूँगा कि तुमसे मिलके जीने के अरमान दिखाई देते हैं देखना हमसे मिलते रहना आते जाते रहना ज़रूर इन खातिन हजरात अब पेश है हजरत दाग का कलाम दाग दिल्ली के रहने वाले थे आप सब जानते हैं लेकिन दिल्ली की खूबसूरत ज़बान में उन्होंने शेर कहे हैं कि क्यों चुराते हो देख कर आँखें ऐसे खूबसूरत ज़बान के शेर क्यों चुराते हो देख कर आँखें कर गई मेरे दिल में घर आँखें और एक खूबसूरत इसका गज़ल का शेर है कि दाग आँखें निकालते हैं वो उनको दे दो निकाल कर आँखें वाह ऐसे खूबसूरत शेर कहने वाला शायर और उसी की गज़ल बड़ी खूबसूरत गज़ल पेश कर रही हैं इकबाल बानो साहिबा न रवा कहिए न सज़ा कहिए कहिए कहिए मुझे बुरा कहिए